और अगर वो तुमसे झगड़े तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब जानता है